सुरन सुमिर शारदा राहे देवि देव शरणागत मते भरतमते जमायां पालु विबुध कुल करि छल छाया विबुधं विनय सुनि देवि बोली सुर स्वरथ जड़ जाए मोसन कहु भरत मति फेरो लोचन सहसन सूझ सुमेरु देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा हे देवी देवता आपके शरणागत हैं उनकी रक्षा कीजिए अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दूँ हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता विधि हरिहर माया बड़े भारे सोन भरत मति सक निहारे सोमति मोहे कहत कर भोरे चंदन कर के चंद कर चोरी देवताओं की विनती सुनकर ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो भुलावे में डाल दो अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है भरत हृदय सिय राम निवासो तह कित मिर जह प्रकाशो अस कही सारद गई विधि लोका विबुध विकल से मानहु को काम सुर स्वारथी मलिन मन किन्ह कुमंत्र कुठाट रचि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अरति उचार भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट षडयंत्र रचा प्रबल मायाजाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया करी कुचाल सोचत सुर राजो भरत हाथ सब काजु काजो गए जनक रघुनाथ समीपा सन्माने सब रवि कुल दीपा समय समाज धर्म अविरोधा बोले तब वंश पुरोधा जनक भरत संवाद सुनाए भरत कहावते कहे सुहाए कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए सूर्यकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई तात राम जस आय सुदेहो सो सब करे मोर मत ये हो सुनि रघुनाथ जोर जुग पानी बोले सत्य सरल मृदु बारी विद्यमान यापन मिथिले सो मोर कहब सब भाति भदेशो राउर राय रजाय सुहोए राउर सपथ सहे सिर सोए फिर बोले हे तात राम मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसे ही सब करे यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी राम शपथ सुन मुन जन को सकुचे सभा समेत सकल बिलोकत भरत मुखो बनई नवो तर दे श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए स्तंभित रह गए किसी से उत्तर देते नहीं बनता सब लोग भरत जी का मुँह ताक रहे हैं